इरेना सेंडलर और वार्सा यहूदी बस्ती के बच्चे लेखन स्यूजन गोल्डमैन रूबिन चित्रांकन Bill Farnsworth Hindi voice over Partho Mukherjee कहानी की पृष्ठभूमि बहुत कम लोग पोलिश सामाजिक कार्यकर्ता इरेना सेंडलर के बारे में जानते हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वॉर्सा यहूदी बस्ती से लगभग 400 बच्चों को बाहर निकालने में मदद की थी अपने पेशेवर कौशल और कनेक्शंस के साथ साथ औजारों के बक्सों एम्बुलेंस और अन्य सरल चीज़ों का उपयोग करके इरेना सेंडलर ने नाथसियों को ललकारा और यहूदी बच्चों को बचाने में अपनी जान जोखिम में डाली बच्चों के नामों की वास्तविक पहचान वाली उनकी गुप्त सूची युद्धग्रस्त वॉरसों में एक पेड़ के नीचे कांच के दो मर्तबानों में छिपाकर सुरक्षित रखी गई थी इस प्रेरक जीवनी में सेंडलर के साहस और करुणा की कहानी को बेहतरीन शब्दों में बताया गया है और अब मुख्य कहानी सितंबर एक उन्नीस की सुबह सुबह इरेना सेंडलर और उनकी मां अपने वॉर्सो अपार्टमेंट में बैठी रेडियो सुन रही थीं खबर चिंताजनक थी इरेना ने कहा खबर है कि जर्मन सेना ने सुबह पोलिश सीमा पार कर ली है वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था युद्ध के पहले हफ्तों तक जर्मन विमानों ने ऑफ पोलैंड पर दिन ब दिन रात दर रात बमबारी की उससे इमारतों में आग लग गई और वे जल उठी भयभीत लोग सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे एक युवा कैथोलिक सामाजिक कार्यकर्ता इरेना सेंडलर ने घायलों की देखभाल करने और ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश की लेकिन बहुत अधिक शरणार्थी अपने शहरों को छोड़कर अब वॉरसो में आ रहे थे क्योंकि जर्मनों ने अपना हमला जारी रखा था 28 सितंबर उन्नीस को पोलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया एक अक्टूबर को जर्मन सैनिकों ने वॉरसॉ में प्रवेश किया उसके बाद वॉरसॉ शहर और पोलैंड का अधिकांश भाग नाथसी शासन के अधीन आ गया उसके बाद इरेना तुरंत पोलिश सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गईं उन्होंने कहा उस समय अपनी सबसे भरोसेमंद महिला मित्र के साथ मैंने उन लोगों को बचाने के लिए एक विशेष दल का गठन किया जो सबसे अधिक खतरे में थे इरेना और उनके दोस्तों ने पोलिश नागरिकों के नाम से सैकड़ों झूठे दस्तावेज बनवाकर यहूदियों को भूख से मरने से बचाया इस तरह वो समूह वॉरसा में समाज कल्याण विभाग से वित्तीय सहायता का हकदार बन गया हालांकि जर्मनों ने किसी को भी यहूदियों की मदद करने से मना किया था इरेना ने उनके आदेशों की अवहेलना की यहूदियों की सहायता करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी वॉर्सा विश्वविद्यालय में अपने छात्र दिनों में इरेना ने तब विरोध किया था जब यहूदी छात्रों को यहूदी गेटो बेंच पर अलग बैठने के लिए मजबूर किया गया था मैं हमेशा यहूदियों के साथ बैठती थी उन्होंने कहा और उन्हें अपनी एकजुटता दिखाती थी फिर इरेना को वॉर्सा के यहूदी क्वार्टर जिसे यहूदी बस्ती यानी गेटो के नाम से जाना जाता है में अपनी यहूदी दोस्तों की चिंता होने लगी वहाँ पहले से ही भीड़ भाड़ थी लेकिन जर्मनों ने फिर भी ग्रामीण इलाकों से आए हजारों यहूदियों को उस यहूदी बस्ती में ठूंस दिया था मई 1940 में जर्मनी ने बमबारी वाली इमारतों की ईंटों का उपयोग करके यहूदी बस्ती के चारों ओर यहूदियों को एक दीवार बनाने के लिए मजबूर किया नवंबर 1940 तक दीवार साढ़े ग्यारह फीट ऊंची उठ गई थी और उसके शीर्ष पर कांच के टुकड़े और कटीले तार लगे थे वॉर्सो के शेष भाग में दरवाजों पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था यहूदियों को यहूदी बस्ती छोड़ने से मना किया गया था और पुलिस ने किसी भी यहूदी को बचाते हुए पकड़े जाने पर गोली मारने के आदेश दिए थे यहूदी गेटों में भयानक भीड़भाड़ और गंदगी के कारण टाइफस की महामारी फैल गई जर्मन किसी भी महामारी से डरते थे इरेना ने कहा इसलिए उन्होंने पोलिश अधिकारियों को यहूदी बस्ती में स्वास्थ्य और स्वच्छता की देखभाल करने की अनुमति दी हमें यहूदी बस्ती में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले पास वॉर्स और रोग नियंत्रण विभाग ने दिए इरेना और उसकी सहेलियां नर्सों की वेशभूषा में सफ़ेद वर्दी और सफ़ेद टोपियां पहनकर यहूदी बस्ती में दाखिल हुईं अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए इरेना ने डेविड के स्टार वाला एक आर्म बैंड पहना ठीक वैसे ही जैसे यहूदियों को पहनने का आदेश दिया गया था अंदर इरेना ने जो देखा उसे देखकर वो भयभीत हो गई उन्होंने कहा बूढ़े और जवान सड़कों पर मर रहे थे फटे कपड़े पहने नंगे पांव यहूदी बच्चे रोटी और पैसों की भीख मांग रहे थे और दरवाज़ों पर सोते थे 1942 की जुलाई में नाथसियों ने यहूदी बस्ती को खाली करना शुरू कर दिया जर्मन यहूदी बच्चों और वयस्कों को मवेशी कारों में भरकर ट्रेबलिंका एक मृत्यु शिविर में ले गए वहां पर नाथसी उन यहूदियों को मार देते जो पहले से ही बीमारी और भुखमरी से नहीं मरे थे इरेना ने कहा यहूदी बस्ती से बच्चों को आर्य यानी गैर यहूदी इलाके में ले जाने की व्यवस्था करना मेरी एक परम आवश्यकता बन गई लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थीं? दिसंबर 1942 तक Irena Council for Aid to Jews में शामिल हो गई जो एक नवगठित अंडरग्राउंड संगठन था जिसका कोड नाम जेगोटा था इरेना एक गुप्त पते पर उस संगठन के नेता से मिली और उन्होंने नेता से कहा कि हम मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास भरोसेमंद दोस्तों का नेटवर्क है और आपके पास पैसा है उन्होंने याद किया बाद में संगठन के नेता ने मुझे यहूदी बच्चों के सहायता विभाग की कमान सौंप दी इरेना का कोड नाम सिस्टर जोलांटा था वो बमुश्किल चार फिट ग्यारह इंच लंबी थी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को एक नर्स के रूप में पेश किया और यहूदी बस्ती में प्रवेश करने के लिए एक जाली मेडिकल पास का इस्तेमाल किया इरेना ने यहूदी बच्चों की तस्करी के लिए सरल तरीकों की योजना बनाई सद्भावना पर्याप्त नहीं थी माइकल ग्लोविंस्की जो बचाए गए बच्चों में से एक थे ने कहा कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना था और हर कार्रवाई पर अच्छी तरह से विचार करना था इरेना का पसंदीदा भागने का रास्ता पुराने कोर्ट हाउस से होकर जाता था जिसका सामने का भाग यहूदी बस्ती की ओर था और जिसके पीछे का प्रवेश द्वार गैर यहूदी इलाके की ओर था कुछ निकास द्वार खुले थे इरेना ने कहा और एक बहादुर संरक्षक की मदद से वहां से ध्यान आकर्षित किए बिना निकलना संभव था नाथसी गार्डों को जिन बच्चों के यहूदी होने का शक हुआ उन्होंने उन बच्चों को भगवान की प्रार्थना सुनाने को कहा इसलिए पलायन से पहले इरेना ने बच्चों को क्रॉस का चिन्ह बनाने के साथ साथ बुनियादी रोमन कैथोलिक प्रार्थनाएं भी सिखाईं एक अन्य योजना में किशोरों को कार्य ब्रिगेड के साथ भागना होता था ब्रिगेड में वे कुशल युवा शामिल थे जिनसे जर्मन गैर यहूदी इलाकों की वर्कशॉप्स में काम करवाते थे हर सुबह ये ब्रिगेड यहूदी बस्ती में एक असेंबली पॉइंट से निकलती थी और फिर रात में उन लोगों को छोड़कर वापस लौटती थी जो भाग गए थे कई बच्चे सीवर यानी नालों के रास्ते भागे ये ऑपरेशन बिल्कुल सही समय पर किए जाते थे मैं और मेरा चचेरा भाई जो मुझसे थोड़ा छोटा था अपने घर के गेट पर खड़े थे और भागने के लिए तैयार थे पियोत्र जेटिंगर ने याद किया जो उस समय छः साल का था वहाँ पहले से ही अंधेरा था सड़क सुनसान थी और सन्नाटे में केवल मार्च करते सैनिकों के जूतों की गूंज ही सुनाई देती थी किसी ने प्योत्र से कहा कि जैसे ही सैनिक गेट पार करके तीस कदम आगे बढ़े वो तुरंत सड़क के बीच में बने गड्ढे की ओर भागे मैंने उनके कदम गिने प्योत्र ने कहा क्योंकि अचानक मैंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना भागो और मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ शायद मेरी माँ का या मेरे पिता का वे हमेशा के लिए मुझसे अलविदा कह रहे थे प्योत्र और उसका चचेरा भाई तेजी से सड़क के बीच में पहुंचे जहां एक मैनहोल का ढक्कन खुला था वहाँ एक और हाथ मेरा इंतज़ार कर रहा था प्योत्र ने कहा किसी ने मुझे अंदर खींच लिया यहाँ आवाज़ की अनुमति नहीं है अजनबी ने कहा तुम बात नहीं कर सकते हो और खांस भी नहीं सकते हो हम उस आदमी के पीछे पीछे चले हालांकि हम उसे देख नहीं पाए प्योत्र ने कहा उसके पास एक टॉर्च थी और वो समय समय पर उसे जलाता था कभी कभी इरेना बच्चों को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर और फ्लोर बोर्ड के नीचे छिपा देती थी भरोसेमंद ड्राइवर एंटनी डेम्ब्रोवस्की ने आगे की सीट पर एक कुत्ता रखा था जैसे ही एम्बुलेंस नाथसी गार्डों के पास से गुजरती इरेना कुत्ते के पंजे को मारती ताकि कुत्ता भौंके और उससे बच्चों द्वारा किया जाने वाला शोर दब जाए अन्य बच्चों को दमकल गाड़ियों में छिपाया जाता था इरेना ने कहा सभी बच्चों को बोरियों से ढकना पड़ता था उनके सिर अदृश्य होते थे आमतौर पर इरेना छोटे बच्चों को नींद की गोली खिला देती थी या उनके मुंह पर टेप लगा देती थी ताकि वे रोए नहीं उन्होंने कुछ बच्चों को बॉडी बैग और ताबूतों में भी रखा और फिर इरेना और एक ड्राइवर उन्हें दीवार के दूसरी ओर यहूदी कब्रिस्तान में ले जाते थे यदि कोई गार्ड ट्रक को रोकता तो इरेना दावा करती कि वो शवों को दफनाने जा रही थी इरेना ने आलू की बोरियों सूटकेस और टूल बॉक्स में बंद करके बच्चों की तस्करी करने का भी साहस किया जब एल्स बीटा का छः महीने की थी तब उसके माता पिता ने अपनी बच्ची को इरेना को सौंप दिया था इरेना ने एल्सबीटा को नशीली दवा दी और फिर उसे एक बढ़ई के लकड़ी के बक्से में छिपा दिया बच्ची के माता पिता ने एक चांदी के चम्मच में एक तरफ एल्जबीटा का पहला नाम और दूसरी तरफ उसकी जन्मतिथि अंकित की थी ऐसा कहा जाता है कि एक बढ़ई उस बक्से को नाथसी गार्डों के ठीक सामने से ले गया बचाव के एक अन्य वृत्तांत के अनुसार इरेना ने बढ़ई के बक्से को ईंटों से भरे ट्रक पर रख दिया ईंटों की व्यवस्था इस तरह की गई ताकि शिशु तक हवा पहुंच सके ये मेरी माँ के लिए वास्तव में एक वीरतापूर्ण कार्य था कि उन्होंने अपनी छह महीने की बच्ची को बिना किसी गारंटी के कि वो जीवित रहेगी या नहीं इरेना को सौंप दिया था एल्सबीटा ने कई वर्षों बाद कहा माता पिता को मनाना और दादा दादी के लिए अपने बच्चों को छोड़ना अक्सर बहुत कठिन होता था अगर कोई माँ हाँ कह भी दे तो भी पिता ना कह देता था सभी माता पिता मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछते थे क्या आप गारंटी देती हैं कि मेरा बच्चा जीवित रहेगा इरेना ने याद किया हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ा कि हम ऐसी गारंटी नहीं दे सकते थे क्योंकि हमें यह तक नहीं पता था कि हम उस दिन यहूदी बस्ती छोड़ने में सफल होंगे या नहीं एकमात्र गारंटी ये थी कि अगर बच्चे बस्ती में ही रहते तो वे संभवतः मर जाते एक बार जब बच्चे बस्ती से बाहर आ जाते तब भी इरेना को उन्हें छुपाना पड़ता था इरेना और उसके कुरियर बच्चों को एक सुरक्षित घर से दूसरे सुरक्षित घर ले जाते थे अक्सर पहला पड़ाव इरेना का अपना अपार्टमेंट होता था वर्षों बाद जिन पुरुषों और महिलाओं को इरेना ने बचाया था उन्होंने याद किया कि जब वे यहूदी बस्ती छोड़ रहे थे और यहाँ तक कि उसके घर में रह रहे थे तो इरेना ने उनका हाथ पकड़ा था और साथ दिया था उन्होंने कहा अब बच्चों में अपने परिवेश में होने वाले बड़े बदलावों की आदत पड़ गई थी बच्चे अब अपने प्रियजनों से बहुत दूर थे अधिकतर बच्चे केवल यहूदी भाषा ही जानते थे बच्चों को पोलिश बोलना सीखना था और पोलिश गाने कविताएं और प्रार्थनाएं सुनानी थीं ताकि उन्हें कहीं गैर यहूदी इलाके में आश्रय मिल सके वे पोलिश बच्चों की तरह दिखते और बोलते तो वो संभव होता पियोत्र जेटिंगर वो लड़का था जो सीवर में से होकर बच निकला था ने कहा मुझे इतनी जल्दी बहुत कुछ सीखना पड़ा इरेना ने पियोत्र और अधिकांश बच्चों को रोमन कैथोलिक कॉन्वेंट और अनाथालयों में रखा पियोत्र को पोलैंड के मिडजल्स में एक कैथोलिक अनाथालय में रखा गया इरेना ने कहा मुझे पता था कि मैं कैथोलिक बहनों पर भरोसा कर सकती थी किसी ने कभी भी मुझसे बच्चा लेने से इनकार नहीं किया इरेना ने बचाए गए कुछ बच्चों को पोलिश पालक माता पिता के पास भी रखा निजी घर केवल बहुत छोटे बच्चों को रखने को तैयार थे इरेना ने कहा इन प्यारे घरों में बच्चों को सबसे कम कष्ट सहना पड़ता था इरेना बेबी एल्सबीटा को पोलिश कैथोलिक दाई के पास ले गई जिसने बच्चे को गोद ले लिया और एक कैथोलिक के रूप में उसका पालन पोषण किया कई बार बच्चों को बार बार स्थानांतरित करना पड़ता था क्योंकि कुछ ब्लैकमेलर्स नकद इनाम पाने के लिए यहूदी बच्चों को गेस्टापो को सौंपने की धमकी देते थे उन्हें शक था कि वे बच्चे यहूदी थे इरेना ने कहा यह उन भागे हुए बच्चों के लिए दुखद था एक बार मैंने एक बच्चे को उठाया जिसे किसी अन्य छिपने की जगह पर जाने की जरूरत थी और वो बच्चा लगातार रो रहा था गहरी सिस्कियों के बीच उसने मुझसे पूछा क्या आप कृपया मुझे बता सकती हैं कि एक बच्चे की कितनी माँ हो सकती हैं मैं अब अपनी बत्तीसवीं माँ के पास जा रहा हूँ इरेना ने यहूदी बच्चों को पोलिश नाम और झूठे जन्म और बपतिस्मा के प्रमाण पत्र दिए हावा एस्टर शेटिन अब तेरेसा तुचोल्सका बन गई पियोत्र जेटिंगर को अपना पहला नाम रखने की अनुमति थी क्योंकि वो एक सामान्य पोलिश नाम भी था लेकिन उसे अपना अंतिम नाम या अपनी यहूदी बस्ती वाले माता पिता के बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं थी इरेना ने कहा यहूदी बच्चों को जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी माँ और पिता को त्यागना पड़ा उन्हें दिन ब दिन सिखाया जाता था तुम रेचल नहीं हो तुम रोमा हो तुम लीक नहीं हो तुम जजेक हो रेचल जिसका नाम बदलकर जोजिया रखा गया रात में अपने कंबल के नीचे छिप जाती थी और अपनी माँ से बातें करने का नाटक करती थी तुमने मुझे जाने क्यों दिया वो रोते हुए फुसफुसाती थी मैं यहाँ पर क्यों हूँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ माँ मैं तुम्हारी छोटी रेचल हूँ मैं जोजिया नहीं बनना चाहती हूँ इरेना के लिए कोई भी रिकॉर्ड रखना मुश्किल था अप्रैल 1943 में यहूदी लड़ाकों ने यहूदी बस्ती में विद्रोह का आयोजन किया और तब जर्मन सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यहूदी बस्ती को लगभग मलबे में तब्दील कर दिया लेकिन फिर भी इरेना और उसके स्वयंसेवकों ने लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना जारी रखा अव्यवस्था के बावजूद इरेना को युद्ध के बाद बच्चों को उनके परिवारों के साथ फिर से मिलवाने की उम्मीद थी हमें बच्चों और उनके माता पिता को याद करने के कोई तरीका ईजाद करने की ज़रूरत थी उन्होंने कहा हमें अत्यंत गोपनीयता में किसी प्रकार की सूची या इंडेक्स कार्ड बनाने थे इरेना ने बच्चों के यहूदी नामों को उनके पोलिश नामों के साथ एक नरम पारदर्शी संकीर्ण कागज़ की पट्टी पर लिखा और उन्हें लपेट दिया उन्होंने कहा उस सूची की सुरक्षा के लिए मैं अकेली जिम्मेदार थी उस समय अंडरग्राउंड के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीज़ों को फ्लोर बोर्ड के नीचे या फिर स्टोव में छिपाते थे लेकिन इरेना की कुछ अलग ही योजना थी जर्मनों द्वारा अचानक तलाशी लेने की स्थिति में इरेना ने सोचा मैं सूची के छोटे रोल को खिड़की से बाहर बगीचे में एक झाड़ी में फेंक दूंगी फिर अपनी अच्छी तैयारी के लिए उसने कई बार उसका अभ्यास किया 20 अक्टूबर 1943 की शाम को इरेना की चाची और एक प्रिय मित्र और संदेशवाहक जेरीना ग्राबोस्का उनसे मिलने आईं ये इरेना के नामकरण वाला दिवस था इसलिए महिलाएं सुबह लगभग तीन बजे तक बातें करती रहीं सामने का दरवाज़ा पिटने से वे जाग उठे बाहर गेस्टापो जर्मन गुप्त पुलिस थी ट्रेना ने तुरंत नामों के कीमती सूची को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की लेकिन उनके घर को पुलिस ने घेर लिया था किसी ने गेस्टापो को उनकी अंडरग्राउंड गतिविधियों की जानकारी दी थी ट्रेना ने कहा जर्मन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वे दरवाज़ा तोड़ने ही वाले थे मैंने सूची अपने कुरियर वाले दोस्त के पास फेंक दी और फिर मैं दरवाज़ा खोलने चली गई ग्यारह गेस्टापो के अफसर अचानक अंदर आ गए इरेना ने कहा उन्होंने फर्श के तख्तों को उठाया और तकियों को फाड़ कर देखा वो भयावह खोज दो घंटे तक चलती रही इस पूरे समय में मैंने जेनिना यानी कुरियर की ओर देखा तक नहीं ताकि हमारे भयभीत चेहरे किसी भी तरह का संकेत न दें उसे नामों की अमूल्य सूची को सुरक्षित रखना था इरेना ने कहा वास्तव में कुरियर की स्पष्ट सोच और उसकी बहादुरी ने सूची को बचा लिया उसने सूची को अपने अंडरवियर में छिपा लिया था गेस्टापो ने इरेना को कपड़े पहनने का आदेश दिया उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्हें सूची नहीं मिली इरेना अपनी चप्पलों में ही घर से बाहर निकली और एक बाहर इंतजार कर रही कार में जाकर बैठ गईं उन्होंने कहा आगे क्या होगा ये सोचकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा गेस्टापो इरेना को पावियाग जेल ले गए वहां वो अपने कई भरोसेमंद दोस्तों से भी मिली जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया था इरेना को इस बात का भी एहसास हुआ कि उनका गुप्त मिलन स्थल एक लॉन्ड्री खोज ली गई थी गेस्टापो ने ट्रेना से यहूदियों की मदद करने वाले अंडरग्राउंड संगठन उसके नेता और सदस्यों के बारे में पूछताछ की गेस्टापो ने मुझसे वादा किया कि अगर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो फिर वे मुझे तुरंत रिहा कर देंगे इरेना ने कहा लेकिन मैं एक चूहे की तरह शांत रही कई दिनों तक उन्होंने उससे पूछताछ की और उसे प्रताड़ित किया एक क्रूर सत्र में गेस्टापो ने इरेना के पैर और टांगे तोड़ डाली वो बेहोश हो गई जब वो होश में आई तब भी उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया तीन महीने के बाद मुझे फायरिंग दस्ते द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई जिगोटा नेताओं को नहीं पता था कि इरेना के कुरियर ने नामों की सूची छिपा दी थी इरेना ने कहा मैंने अपने पत्रों में उन्हें केवल यही बताया था कि गेस्टापो को बच्चों के नामों की सूची नहीं मिली थी जिगोटा को पता था कि युद्ध के बाद बच्चों को खोजने के लिए कार्ड इंडेक्स ही एकमात्र उम्मीद थी जिस रात इरेना को फांसी दी जानी थी गेस्टापो का ट्रक ड्राइवर जो गोली मारने के लिए कैदियों से भरे ट्रक को चला रहा था उसने मुझे जाने दिया इरेना ने कहा ड्राइवर को एक पोल ने भारी रिश्वत खिलाई थी वो पोल जर्मनों के साथ काम करता था जेगोटा में वो रिश्वत इरेना के दोस्तों ने दी थी इसलिए ना रोज रोजू स्क्वायर पर ड्राइवर चिल्लाया भागो इरेना लड़खड़ाते हुए वहां से कुछ दूर चली गई गेस्टापो दस्तावेज में कहा गया कि उसे गोली मार दी गई थी और नाथियों का मानना था कि वो मर चुकी थी दो महीने बाद गेस्टापो को पता चला कि इरेना छिपी थी और अब भी जीवित थी उसके बाद गेस्टापो फिर से मेरे पीछे पड़ गई इरेना ने कहा फिर इरेना ने अपनी बीमार माँ को उनके वॉर्सो अपार्टमेंट से चुपचाप बाहर निकाला और फिर वे दोनों अजनबियों के साथ रहने चली गईं कुछ ही समय बाद इरेना की माँ की मृत्यु हो गई इरेना ने अंतिम संस्कार में जाने का जोखिम नहीं उठाया क्योंकि वो जानती थी कि गेस्टापो वहां उसकी तलाश में तैनात होगी और इरेना बिल्कुल सही थी कुछ समय के लिए इरेना एक सुरक्षित घर में रही जहां पहले वो कई यहूदी बच्चों और वयस्कों को लेकर गई थी और वो स्थान था वॉरसो का चिड़ियाघर युद्ध के शुरुआती दिनों के दौरान चिड़ियाघर पर बमबारी हुई थी जिससे चिड़ियाघर के मालिकों ने कुछ जानवरों को मुक्त कर दिया था साहसी ईसाई प्राणी पालकों ने यहूदियों को जानवरों के खाली पिंजरों में छिपा दिया था अब इरेना उनके पसंदीदा मेहमानों में से एक थी अपने विभिन्न ठिकानों से इरेना ने जिगोटा के लिए काम करना जारी रखा उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया और अब उसके पास अलग नाम का पहचान पत्र था अंडरग्राउंड सूत्रों से उसे पता चला कि पोलिश होम आर्मी जर्मनों के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी कर रही थी विद्रोह शुरू होने से कुछ दिन पहले इरेना ने चमत्कारिक रूप से बचाई गई बच्चों की सूची को दो बोतलों में डाला और सूची को अपने एक अन्य कुरियर जडवीगा प्योत्रोवस्का के बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे दबा दिया जडवीगा नाथसी मुख्यालय के ठीक सामने वाली सड़क पर रहती थी जोखिम के बावजूद जडवीगा ने वादा किया कि अगर इरेना की मृत्यु हुई तो वो नामों की सूची को इकट्ठा करके उन्हें सही व्यक्तियों तक पहुंचा देगी एक अगस्त 1944 को वॉर्सो विद्रोह छिड़ गया बच्चों महिलाओं और यहूदी स्वयंसेवकों ने युवा पोलिश सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी तोपखाने के गोले चटकने लगे हथ गोले फूटे जर्मनों ने एक के बाद एक इमारतों पर बमबारी की और उनमें आग लगा दी जिससे अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए पोलिश सैनिकों को उम्मीद थी कि सोवियत सेना मदद के लिए आएगी लेकिन सोवियत कभी नहीं आए दो अक्टूबर तक जर्मनों ने विद्रोह को कुचल दिया था और पोलिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और लगभग पूरा वॉरसॉ नष्ट हो गया हालांकि इरेना बच गई और उसके कीमती मर्तबान सेब के पेड़ के नीचे सुरक्षित रहे 17 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों ने अंततः वॉरसॉ को मुक्त कराया जर्मन कब्जे के साढ़े पांच वर्षों में इरेना ने लगभग 400 बच्चों को बचाया था और उनके नेतृत्व में जिगोटा ने लगभग 2000 बच्चों को बचाया था पक्की संख्या अभी भी अनिश्चित है युद्ध समाप्त होने के बाद पोलैंड में इरेना ने कहा मैंने यहूदी समिति के प्रमुख डॉक्टर एडोल्फ हर्बन को सभी बच्चों के नाम वाले इंडेक्स कार्ड सौंप दिए वो जिगोटा के सदस्य थे इंडेक्स कार्ड की मदद से इरेना ने कहा यहूदी समिति ने पाए गए बच्चों को अनाथालयों में रखा या फिर उन्हें फिलिस्तीन जाने में मदद की जो 1948 में इसराइल बन गया बहुत से बच्चों को बड़े होते हुए ये पता नहीं था कि वे यहूदी थे उनके अधिकांश माता पिता और दादा दादी मारे गए थे हालांकि इंडेक्स कार्ड की जानकारी ने कुछ बच्चों को उनके परिवारों से फिर से मिलवाया पियोत्र जटिंगर की माँ उसे लेने के लिए मठ के अनाथालय में आई माँ को देखे हुए पियोत्र को तीन साल हो गए थे और वो अपनी माँ को पहचान नहीं पाया पियोत्र ने कहा उस महिला ने एक गंदा सेलेटी सर्दी का कोट पहना था जो उसके लिए बहुत बड़ा था उसका चेहरा बूढ़ा था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उनमें कुछ बाल सफ़ेद थे लेकिन पियोत्र अपनी माँ के साथ चला गया अब वो अजनबियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने का अभ्यस्त हो गया था वे बर्फीली सड़कों पर चलते हुए एक स्टेशन तक पहुंचे जहां एक लोकोमोटिव आया एक आदमी ने पियोत्र को ट्रेन में खींच लिया जैसे ही ट्रेन चलने लगी प्योत्र के साथ वाली महिला पीछे छूट गई वो बदहवासी की हालत में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ भागी उन्होंने अपना हाथ हिलाया और वो चिल्लाई ट्रेन धीमी होकर रुकी और फिर महिला उसमें चढ़ गई प्योत्र ने कहा फिर वो महिला आगे बढ़ी मेरे करीब आई उसने मुझे गले लगाया मुझे कसकर पकड़ा और फिर से रोने लगी समय के साथ मैं पूरी तरह से समझ गया कि वैसा क्यों हुआ मैं अपनी माँ से मिल रहा था एक बार जब इरेना से पूछा गया कि क्या उसने धार्मिक कारणों से यहूदी बच्चों को बचाया था तो उन्होंने कहा नहीं मेरे दिल ने मुझसे ऐसा करने को कहा था अंत के शब्द युद्ध के बाद इरेना की कहानी अनकही रह गई रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और वहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना की कम्युनिस्ट इरेना को गद्दार मानते थे क्योंकि उसने अंडरग्राउंड के साथ काम किया था जिसे निर्वासित कम्युनिस्ट विरोधी पोलिश सरकार का समर्थन प्राप्त था पोलैंड में फिर से यहूदी विरोधी भावना फैल गई और यहूदियों को बचाने के लिए इरेना को सताया गया लेकिन इरेना ने चुपचाप वॉरसॉ में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना करियर फिर से शुरू किया और उसने जो बचाव कार्य किए थे उसके बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन जिन बच्चों को उसने बचाया था वे उसे हमेशा याद करते थे और उसके बारे में बातें करते थे टेरेसा टुचोलस्का कॉर्नर जो पूर्व में हया एस्टर शेटिन थी ने कहा युद्ध के बाद इरेना ने मुझे खोजा और पहले कुछ वर्षों तक मैं उनके घर में रही जब तक कि मैंने मिडिल स्कूल पूरा नहीं कर लिया इरेना ने टेरिसा को फिर से उसकी यहूदी जड़ों को खोजने में मदद की और बाद में टेरिसा इसराइल चली गई पियोत्र जेटिंगर अपनी माँ के साथ वॉर्सो वापस चला गया और वहाँ उसने विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उसने कहा मैं अक्सर मिसेज सेंडलर से मिलने जाता था वो काफ़ी नज़दीक रहती थीं जहाँ तक उनकी बात है इरेना सेंडलर मेरी दैवीय परी थी एल्जबीटा का वो बच्ची थी जिसे बढ़ई के बक्से में छिपाकर बाहर निकाला गया था वो अपनी दत्तक पोलिश माँ के साथ बड़ी हुई फिर उसने शादी की और उसका अपना परिवार हुआ इरेना उसकी बेटी की पालक दादी बनी एल्जबीटा ने कहा मिसेस सेंडलर ने न केवल हमें बचाया बल्कि हमारे बच्चों और पोते पोतियों और आने वाली पीढ़ियों को भी बचाया इरेना की कहानी आखिरकार उन्नीस में सामने आई जब पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन का पतन हुआ और फिर पोलैंड एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना उसके बाद इरेना को पुरस्कार सम्मान और दुनिया भर का ध्यान मिला फिर भी इरेना ने कहा मेरे मन में हमेशा यही मलाल रहता है कि मैं और अधिक नहीं कर पाई वो पछतावा मेरी मृत्यु तक मेरा पीछा करेगा हीरो के रूप में सराहना किए जाने पर उन्होंने कहा हीरो वो होता है जो असाधारण काम करता है मैंने जो किया वो असाधारण नहीं था वो एक सामान्य बात थी असली हीरो यहूदी बच्चे और उनकी माताएं थीं जिन्होंने अपने सबसे प्रिय बच्चों को मेरे जैसे अज्ञात व्यक्ति को सौंप दिया